ला ला ला ला ला स्वराज एफ एम गरीबी दोस्तों इस वक्त सात बजकर छियानवे व्यतीत होते ही फिर नितिन ओवर सीवन हो गया सिरनाम में और फिल्म नितिन ओवर ट्वेल्व हो गया है नीदरलैंड में और इसका मतलब होता है दोस्तों कि आज का मुलाकात जो आपसे रहा आहिस्ता आहिस्ता अब समाप्त होते हैं Though it hurts to go away it's impossible to stay. But there's one thing I must say before आज की कार्यक्रम मेरे हिस्से की आखिरी गाना सुनने वालों कार्यक्रम में शामिल हैं Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you, most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you, I love you. all the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me, save all your kisses सिर्फ योर किशेस फॉर मी और uh, आखिरी गाना सुनने वालों मेरे हिस्से के कार्यक्रम में उम्मीद रहा है कि जिस अंदाज में ये कार्यक्रम आपके सेवा में प्रस्तुत हुआ प्रसारित हुआ इसे आप सुन के अवश्य मनोरंजन प्राप्त किए होंगे ऐसे कभी और अवसर मिला सुनने वालों तो हम जरूर ऐसे ही कुछ मिले जुले संगीत से आपकी सेवा करने के लिए हाजिर रहूंगा तब तक के लिए आप जरूर हमें आज्ञा दें मेरे हिस्से की अगला कार्यक्रम सुनने वालों आने वाले बृहस्पतिवार दाह को आपके सेवा में प्रस्तुत की जाएगी और तीन बजे के वक्त से तीन बजे से नाम के समय आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूंगा और तब रहेगा कार्यक्रम विषय हमारा और गीत तुम्हारा वादा करे। आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम अदाप सतरियाकाल कहते हैं उजाले अपनी यादों के रहने दो पास मेरे उजाले अपनी यादों के रहने दो पास मेरे न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम अदाब सत ये था आपका सेवक आपका गुजार Robin Shiv Kumar bye bye स्वाय स्वाय अपना ख्याल रखिए अभी आपकी सेवा में रहेगा रेक्लाम और तुरंत उसके बाद देश विदेश के समाचार आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की जाएगी और बाकी कार्यक्रम जो रहा है स्वराय सफेम नींदलन द्वारा आप लोगों की सेवा में प्रसारित किया जाएगा अधूरी है अभी अपने एक और मोला पास जरूरी है अभी चंद लम्हों के लिए साथ का कर come say